और श्री कृष्ण उनके पास उनका दूध पीने के लिए अपने आप चल करके आए अब ये देखो अद्भुत बात चाहिए ये था कि जब जसोदा मैया सही मत करते और उसका माखन खिलाना चाहती है श्रीकृष्ण को तो श्री कृष्ण को भी माखन खाने की इच्छा से आना चाहिए क्योंकि भक्त चाहता है मक्खन खिलाना और श्याम सुंदर चाहते हैं उसके तन का दूध पीना तो ये विषमता हो रही है ये जथा नाम प्रपद्यन थे सांस कथई भगवान हम भगवान का नियम ये है मर्यादा ये है कि जो जिस भाव से प्रेम करे उसी भाव से भगवान उससे प्रेम करते हैं अब एक बार ये प्रश्न अपने चित्र में उठाइए कि जब जसोदा मैया खिलाना चाहती है माखन तो श्री कृष्ण उनके तन का दूध क्यों पीना चाहते हैं यही खाना चाहिए बोले प्रेम में होड़ लग गई यशोदा मैया का प्रेम कृष्ण से ज्यादा है कि कृष्ण का प्रेम अपनी मैया यशोदा से ज्यादा है मैया ने कहा मैं माखन खिलाऊंगी मेरा बहुत प्रेम है श्री कृष्ण ने कहा यह तो बहिरंग है बाहर की चीज है हमको तो भीतर वाला चाहिए है ना माने और ज्यादा प्रेम अब देखो इसमें कैसे ये हो चलती है और इसमें कौन जीतता है कौन हारता है तो ये अंत तक इसका निर्माण किया गया है यहाँ से ये बात शुरू होती है और अंत तक ये प्रेम का द्वंद प्रेम का संघर्ष ये प्रेम का मल्ल युद्ध है जहाँ कल रस का आलम्बन है यशोदा मैया और श्री कृष्ण दोनों और ये दही है माखन है दूध है जिठौना है ये सब तो उद्दीप है अच्छा तो ये बात तो पहले आपको सुनाई कि माँ मथ रही है दही प्रेम है हृदय में और श्रम है शरीर में और वस्तु निकाल रही है तो प्रेम भी कृष्ण को दे रही है और परिश्रम भी कृष्ण को दे रही है और वस्तु भी कृष्ण को दे रही है पर श्री कृष्ण कहते हैं ये सब साध्य है बनावटी है हमको तो जो हृदय में जो स्नेह है हृदय में जो दूध है ना वो स्वाभाविक स्नेह है ये गाय से चूहा हुआ स्नेह है दूध हाँ, उससे जमाया हुआ है दही और उससे निकाला हुआ है मक्खन तो मक्खन भी बनाओगी दही भी बनाओगी दूध भी बनाओगी है हमको ये स्नेह नहीं चाहिए ऐसा नहीं चाहिए हमको वैसा चाहिए कैसा तो जैसा तुम्हारी छाती में से निकल रहा है ना जैसा तुम्हारे दिल में है वैसा चाहिए ऐसा नहीं प्रीतिमा बहन अब देखो ऐसा सुनाने का अभिप्राय ये हुआ कि जब आप कभी श्रीमद भागवत पढ़े उसमें श्री कृष्ण लीला पढ़े बांटे ऐसा न समझे कि ये ऊपर ऊपर कोई बात कही गई है उसके भीतर अभिप्राय है पुण्य प्रीति प्रीतिमावहन ईश्वर की प्राप्ति के पूर्व कर्म किया जाता है ईश्वर की प्राप्ति के अनंतर कर्म नहीं किया जाता यहाँ श्रीकृष्ण कृष्ण आपके सम्मुख खड़े हैं और यशोदा माता दधी मंथन का कर्म कर रहे हैं किसके लिए जैसे समुद्र मंथा जाता है क्यों तो अमृत प्रकट करने के लिए और जब अमृत प्रकट हो जाता है तब तो समुद्र मंथन नहीं होता है यहाँ तो अमृतों का अमृत है ये सावरा कलोना ब्रजराज कुमार ब्रह्म शिशु श्याम शिशु और ये प्रगट है अब मंथन की आवश्यकता मंथन तब तक जब तक फल पर व्यवसायी न हो नवनीत न निकले और यहाँ नवनीत से भी ज्यादा सुकुमार चल करके श्री कृष्ण सामने खड़ा है और फिर मंथन में लगे अच्छा अब दूसरा देखो मैया से बड़ा प्रेम बोले नहीं मैया तुमको बहुत श्रम हो रहा है मुख पर पसीना आ गया मालती के फूल गिर रहे रस्सी खींचनी पड़ती है तो ये मेहनत मत कर परिश्रम मत कर हमको वो चाहिए जो मक्खन निकालने में हमारी मैया को इतना परिश्रम करे वो मक्खन हमको नहीं चाहिए हम मैया से तो मेहनत करवा के परिश्रम जन्म जो मरणी है सो नहीं लेंगे तो तब आप क्या लेंगे तो बोले जो स्वभाव से चुटिया रहा है ना अपने आप ही बाहर निकला रहा है मैया को कोई मेहनत नहीं है ना पुत्र स्नेह स्मृत कुछ दुगम जात वो अपने आप निकलने वाला जो है सो चाहिए तो अच्छा आप प्रीति मादहन शब्द पर थोड़ा ध्यान दें बोले भाई कविता तो सभी करते हैं और निज कवित से ही लाग नहीं मिलता अपनी कविता सबको प्यारी लगती पर काव्य सुंदर होने की पहचान ये है कि उपजय अनक अनक छवि लाई पैदा हो गए दूसरी जगह और सुंदरता उसकी जल के दूसरी जगह उपजय अनक अनक छवि लाई ये सुखदेव जी महाराज का वचन प्रीतिमा वहन इसका जैसे पहले ध्वनि देखो इसमें क्या है कहते हैं कि प्रेम का पिटारा अपने सिर पर लेकर श्याम सुंदर आए ये श्याम सुंदर जसोदा मैया के सामने आए हैं तो देखो एक तो संस्कार शून्य हृदय होने पर प्रमाण से जो परमात्मा का दर्शन होता है वो निरुपाधिक परमात्मा का दर्शन होता है और प्रेम भक्ति के संस्कार से संस्कृत हृदय में जो परमात्मा का दर्शन होता है वो का भी परमात्मा का दर्शन होता है जब हृदय प्रेम कर लगा लग भरा हुआ स्वयं पदार्थ जब प्रेम से लग भरा हुआ है तो उसके सामने जो तत्पदार्थ पदार्थ प्रकट होगा वो अपने प्रेम की उपाधि का निषेध कैसे करेगा तो वेदांति कहते हैं कि प्रेम जीव की उपाधि है ईश्वर की उपाधि नहीं है एक बात है प्रेम वृत्ति है ना तो वृत्ति जो होती है वो जीव की उपाधि होती है ईश्वर की उपाधि नहीं होती ईश्वर की उपाधि तो माया होती है और माया वृत्ति रूप नहीं होती है वृत्ति कारण रूप होती है तो बोले ईश्वर प्रकट कहाँ होगा तो जीव के हृदय में ही तो ईश्वर प्रकट होगा ना तो जब जीव का हृदय प्रेम से लगा लग भरा है और उसमें ईश्वर प्रकट होगा तो जीव के हृदय का जो प्रेम है वो समूचा ईश्वर में लग जाएगा ना तब पदार्थ कौन अन्य देश में प्रकट हो और कौन पदार्थ अन्य देश में हो तो नहीं तो पदार्थ के हृदय देश में ही ईश्वर का प्राकट्य होता है इसलिए जब तक कौन पदार्थ में प्रेम रहेगा तब तक तब पदार्थ प्रेम की उपाधि से ही दिखेगा प्रेम की उपाधि के बिना दिखेगा ही प्रेम की उपाधि का अपवाद नहीं हो सकता इसी से तो ये परिपूर्ण होने पर भी नन्ना का है ये कारण होने पर भी कार्य है ये निराकार होने पर भी साकार है, है? ये हर्ष विकास से रहित होने पर भी हंसने वाला और रोने वाला है यही तो प्रीतिम आगहन ये अपने सिर पर प्रेम की पिटारी ले करके प्रेम प्रेम की टोकरी अपने सिर पर ले करके आए तो मैया ले करे तू तो मुझे प्रेम देती है तू तो मुझसे प्रेम दे लेकिन बात इतनी नहीं है आगहन का अर्थ होता है छोटे है ना वहन करते हुए प्रीति को वहन करते हुए जैसे फिर पर योगक्षेम वहाम्यहम वही हम का ये वह प्राप्त बताते हुए और प्राप्ति दर्ज कराने के लिए लेकिन इसका भाव इससे भी विलक्षण है ना यहाँ है इसका भाव ये अच्छा वो बात पीछे क्या अगर भूल न गई तो व्यायाम तो, प्रेम से भरे हुए आए एक बात यशोदा मैया के लिए प्रेम भर करके ले आए ये दूसरी बात माँ माध यशोदा मैया को और और प्रेम देने के लिए आए तो इसमें क्या प्रेम देना है मखानी पकड़ ली श्री कृष्ण ने तो मैया कहती है कि देखो हमारा लाला हमसे कितना प्रेम करता है दही नहीं मतने देता दूध पीना चाहता है जसोदा मैया कह गया प्रेम से भर गया और जसोदा मैया को दही मथते देख करके ये मेरी मैया है ना जननी यशोदा माता के जननी समय का जो परामर्श हुआ श्री कृष्ण के हृदय में इससे श्री कृष्ण का हृदय प्रेम से भर गया पर इससे भी बड़ी बात इसमें क्या है यहाँ ठाकुर जी मैंने भगवान श्री कृष्ण प्रेम के वाहन बन करके आए प्रीतिमा वाहन अब इसको लोक की भाषा में समझा जैसे गरुड़ जो है वो विष्णु का वाहन है गरुड़ के वाहन विष्णु नहीं है अच्छा शिव का वाहन बैल है बैल के वाहन तो शिव नहीं है तो श्री कृष्ण जसोदा मैया के सामने आए तो ईश्वर बन करके नहीं आए ऐश्वर्य वाहन में नहीं होता है ऐश्वर्य जिसका वाहन होता है उसमें होता है मालिक तो थोड़ा की तरह घोड़े की लगाम सवार के हाथ में होती है तो कृतिम आवाहन का अर्थ हुआ कि प्रीति है मालकिन और श्री कृष्ण है उसके वाहन तो वाहन कैसे चलता है तो वाहन अपने मालिक की प्रेरणा के अनुसार चलता है अब श्री कृष्ण कैसे चल रहे हैं है? तो प्रेम जैसे जैसे चलावे वैसे वैसे चलते हैं तो ऐसे समझो कि अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक कृष्ण माया के मालिक कृष्ण संपूर्ण ऐश्वर्य माधुर्य के मालिक कृष्ण है लेकिन कृष्ण का मालिक कौन है कृष्ण का मालिक प्रेम है ना प्रीतिम आदहन तो अब प्रेम कृष्ण से कहता है कि बच्चे बन जाओ तो बच्चे बन जाओ तो बोले नहीं अभी कथा बन जाओ तो सखा बन जाता है जब प्रेम ने कहा कि नहीं अभी जुदा बन जाए तो जुदा बन जाए जब प्रेम ने कहा कि दूध पिए तो दूध पिए जब प्रेम ने कहा कंधे पर हाथ रखे तो हाथ रखे माने प्रेम से चलाए कृष्ण चलते हैं प्रेम व प्रभु ईश्वर यहाँ प्रेम प्रभु है यहाँ प्रेम ईश्वर है यहाँ प्रेम प्रभु का भी प्रभु है ऐसे मैंने सुना है कि बाइबल में ये बात लिखी है कि प्रेम ही ईश्वर है प्रेम ही ईश्वर है ऐसा कहने वालों ने हमको बताया है मैंने तो जब पढ़ा था जब हमको ये बात ध्यान नहीं आई थी मैंने बाइबल पढ़ी थी बहुत पहले मैंने अठारह उन्नीस बरस की उम्र में बीस बरस की उम्र में पढ़ी हुई तो ये बात ध्यान नहीं आई तो प्रेम ईश्वर है नहीं प्रेम ईश्वर का भी ईश्वर है ये सिद्धांत हुआ प्रीति माधवन का सिद्धांत हुआ कि यहाँ ईश्वर अपनी ईश्वर का छोड़ करके प्रेम से अधीन हो गया प्रेम से अधीन हो गया तो प्रेम जहाँ कहता है वहाँ जाता है जहाँ बैठाता है वहाँ बैठता है ईश्वर जहाँ खिलाता है वहाँ सोता है भक्ति रेवैनम दर्शयती भक्त रेवैनम गमयती भक्त रेवैनम नयती भक्त रेव भूयती भक्ति ही बड़ी है प्रेम बड़ा कि ईश्वर बड़ा बोले प्रेम बड़ा क्योंकि प्रेम ईश्वर का भी संचालन करता है प्रेम ईश्वर अपने मन से नहीं चलता जहां प्रेम ले जाता है वहां ईश्वर जाता है पर प्रेम प्रेम के माने मोह नहीं समझना है प्रेम के माने काम नहीं समझना प्रेम के माने पार्क में होने वाला चौपाटी पर होने वाला है ना पत्राचार से होने वाला है ना बातचीत करके होने वाला नहीं है ना चमड़ी से होने वाले प्रेम का नाम प्रेम नहीं ये तो प्रेम माने जो जीव ईश्वर जगत इन सबको अपने भीतर अपने भीतर हटा देता है उस सत्स्वरूप चित स्वरूप आनंद को ही आनंद है ना आनंद जिसको बोलते हैं उसी का नाम प्रेम है जीन जाता जीवन इति प्रिय प्रेमा तो वो प्रिय सर्पणे धातु तृप्ति परमानंद उसको प्रेम बोल रहे माने इस समय ईश्वर परमानंद में मगन होकर के अपने ईश्वर का भूल गया यहाँ प्रीति है मालिक और ईश्वर है वाहन वो ईश्वर का संचालन कर रही है अब आगे देखो क्या दोनों ओर से एक से आगे एक से आगे एक बढ़ते हैं

अंकन आएगा पहले पुकारा मैया मैया नहीं देखा तो उसने की ओर नहीं देखा बोले तो देर हो गया वही मतलब उसमें तो यही तो है ना तो धरती में लग हम्म, हम्म, हम्म। गई हो ब्रजरस ब्रज में रज ही मुख्य है ना और सारे शरीर पर जरा रंग की शोभा भी विलक्षण होती है नव धन कर मानो भीम बदरिया शोभा रस बरतायन नव धन पर नए नए काले काले बादल पर जैसे ऊपर से कोई झीली बदरिया आ गई सफेद सफेद और वर्षा काहे की हो रही तो शोभा रस की वर्षा हो गई आदेश ने कहा कि सुबह की कथा के समय भी बढ़ता और शाम की कथा के समय भी बढ़ता मैंने कहा ये वर्षा में तो देवता लोग कथा सुनने के लिए आते हैं बादल चर्चा करते तो देवता आते हैं कथा सुनने तो उसने कहा भला ये क्या बात है देवता आते हैं कथा सुनने के लिए मैंने कहा वर्षा में जो कथा सुननी आवे कोई देवता तकलीफ उठा के है ना घीस के दांत से कपड़े खराब करके तकलीफ उठा के आवे तो देवता ही तो मानना पड़ेगा ना कथा का इतना प्रेमी है तो वो देवता ही हो गया तो नव धन पर मानो झील बदलिया शोभा रस दर्शावनी जो श्याम सुंदर के शरीर पर रज लगती है ना रज तो श्याम सुंदर का शरीर तो काली काली घटा के समा और उस पर लगी हुई जो रज है वो धीरे बदरिया के समान लौट गए तब पूर्णम ब्रह्म भूम भैया ने कहा जरा खड़े तब उठ के खड़े हुए खड़े हो होकर नखानी पकड़ी फिर भी मैया ने मानी बोले देखो ना मैया हमारी ये ममता है वो जिससे ममता होती है ना तो जोर जबरदस्ती तो उसी पर चलती है आदर किया जाता है कराए का और जिससे अपनी ममता होती है ना क्योंकि ममता वाले की इंसल्ट तो कभी होती नहीं है इंसल्ट ही है ना कराए हाँ, लोग जो होते हैं उनसे डर लगता है कहीं भाई इनका अपमान न हो जाए गिरफ्तार न हो जाए हाँ, जो अपने होते हैं और तो उनका तिरस्कार करके भी कराए लोगों का सत्कार किया जाता है ये रीति यही है अच्छा श्री कृष्ण आए और मैया मेरी दोनों हाथ से मैया खड़ी थी ना पता तो मैया है तो मेरी मैया कमर तक मुश्किल से हाथ पहुंचे फिर जो लगाया मैया के घुटने पर दोनों पाँव घुटने पर दोनों पाँव रखा हो और फिर जरा हाथ को और उचकाया और ऊपर चले अब छाती तक मुंह पहुंच गया जब छाती तक मुंह पहुंच गया तब मैया ने वही मसना छोड़ करके दोनों हाथ से पकड़ लिया समंकम आरूढ़ आरूढ़ मैंने कृष्ण कर्तिकम आरोहण आरोहण का काम तो कृष्ण ने किया और मैया ने क्या किया अपायम मैया पहले कहती थी मैं तुम्हारे लिए माखन निकालती हूँ मखती हूँ कृष्ण ने कहा माखन नहीं चाहिए दूध चाहिए और फिर मैया के ऊपर पड़ा तो बोले हमारे सिर पर प्रेम पड़ा तो हम तुम्हारे ऊपर ऐतमं तमारूढ़ आरूढ़ का आरोहण किया है चल अब देखो तो कृष्ण ने बड़ा परिश्रम किया आरोहण किया ना तो श्रम हुआ कृष्ण तो मैया कहते हैं नहीं नहीं लाला को तो चढ़ने का श्रम हुआ तो हुआ अब दूध पीने का परिश्रम नहीं होना चाहिए तो अपायस तो जसोदा कर्तिकम आयुधम कृष्ण पत्रिका है ना चढ़ने का परिश्रम तो कृष्ण ने किया और दूध पिलाने का परिश्रम भैया ने किया अपायस तो कृष्ण ने दूध दिया ऐसे नहीं वर्णन है मैया ने दूध पिलाया ऐसे वर्णन है और मैया ने चढ़ा लिया ऐसे वर्णन नहीं है कृष्ण चढ़ गए ऐसा वर्णन है आरूढ़ ये महात्मा लोग एक एक शब्द का जो प्रयोग करते हैं वो एक शब्द सम्यक ज्ञात सुप्रयुक्त स्वर्ग लोके काम भगवे एक शब्द का अगर मनुष्य को ठीक ठीक ज्ञान जीवन में हो एक शब्द का भली भांति एक शब्द को जान ले और उसका ठीक ढंग से प्रयोग कर दे तो उसको इस लोक के लिए और परलोक के लिए काम धेनु मिल गई उस एक शब्द के ज्ञान और प्रयोग से ही वो जो चाहे सो प्राप्त कर सकता है ये महाभाष्य में पतंजलि का वचन है एक शब्द ज्ञात सुप्रयुक्त स्वर्ग लोके काम स्वर्ग में और लोक में एक शब्द का ठीक हो गया आरूढ़ अपाय कृष्ण चढ़ गए और मैया ने खिला दिया मैंने अपने आप मैया ने उनके मुंह में डाल दिया ये अब बोले क्या दूध को खींचना पड़ता होगा श्री कृष्ण को बोले नहीं स्नेह स्मितम क्षति मुखम अभी देखो बराबर होड़ लगी है कृष्ण चढ़ गए मैया ने स्तन डाल दिया मैया ने स्नेह दिया स्नेह स्मिताम और कृष्ण ने स्मित दिया स्नेह स्मिताम सत्मितमी सती मृतम स्नेह स्मिताम दूध अपने आप स्नेह से बाहर निकल रहा है कृष्ण के मुख में जा रहा है असल में दूध की जड़ में जो है वही दूध के सामने भी है जो मैया के हृदय में बैठ करके दूध दूध को दूध बना रहा है बोला स्नेह को स्नेह बना रहा है भीतर स्नेह बना स्नेह कुंड जो है ना जिसमें से दूध निकलता है वो कहाँ से आया तो कृष्ण है मैया के हृदय में स्नेह कुंडी पिंडीभूत घनीभूत जो स्नेह है वो कृष्ण है तो अब स्नेह वहाँ से बह करके कहा जा रहा है तो कृष्ण के मुंह है कृष्ण से निकला और कृष्ण के पास ही जा रहा है स्नेह का आलम्बन कृष्ण है स्नेह का विषय कृष्ण है स्नेह का आश्रय कृष्ण है स्नेह कृष्ण है ये स्नेह यही तो सने हुए हैं दोनों सन गए जसोदा मैया भी उसी में सन गई और कृष्ण भी उसी में सन गए जिसमें सन गए तो सने सने हुए हैं अब देखो एक ओर से स्नेह बरत रहा है मैया की ओर से और कृष्ण की ओर से स्मित स्मित माने मुस्कान बड़ी प्रसन्न है कृष्ण के मुख से स्मित मुस्कान निकलती है हाँ। और मैया के हृदय से स्नेह आता है दोनों प्रसन्न है अब मैया ने कहा कि और आगे बढ़ो नेत्र देवी मैया ने बराबर देख रही है हमारा लाला दूध पीता जा रहा है और जब आंख उठा कर देखता है हमारी तरफ मैया की आंख लेते हैं और ये नहीं कि बच्चा दूध पीने लगा तो मैया देखने लगी उनकी ओर हाँ, बात कर रही है नौकर से और दूध पी रहा है बच्चा तो बच्चे को तो पता नहीं है कि ये माँ क्या सोच रही है इसलिए मुंह उठा के देखा तो मैया उधर देख रही दूध पी बोले नहीं ऐसा नहीं है जब जब मुंह उठा के श्याम सुंदर देखते हैं मैया के मुंह की ओर तब तब आंख बार बार आंख मिलती है प्रेम की खिड़की आंख है इस शास्त्र में चक्षु राजस्त्र प्रेम आंख में आकर के छापता है ये आंख जो है ये प्रेम की खिड़की है और हृदय जो है ये प्रेम का निवास स्थान है और मुस्कान जो है ये प्रेम का प्रकाश है ना प्रेम की चमक आती है होठों पर और आंखों में आके वो झांकता है और हृदय में आराम करता है विश्राम करता है ये आराम की जगह है प्रेम से स्नेह से प्रेम का हृदय में रहना बहुत काम का नहीं है ना तो क्या तो सबके रहता है वो तो सर्वसाधारण है प्रेम का हृदय में रहना तो सर्व साधारण जब आंख में आता है तो झांका भी करता है और जब भोग में आता है जब चमकता है श्री कृष्ण की ओर देखो प्रेम लेना हो प्रेम का राजा है कृष्ण जो है प्रेम की प्रीति की रीति रंगीलो जाने ये रंगीला जो है रंगीला ये रसीला ये छबीला ये नंदलाला ये प्रीति की रीति जानता है सचमी सती मुकाम आप देखो आगे बढ़ते हैं अकृत मुत्सृज्य जवे नता यजौ उत्सृज्यमाने जवेन साजदौ ये जल ये ईश्वर के लिए नवीन शब्द का प्रयोग है अपूर्व ये नहीं ऋग्वेद में है ना ऋग्वेद में यजुर्वेद में कामवेद में अथर्ववेद में ये कही नहीं है इसको सिर्फ अन्य कौपी जो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं नाना पुराण निगम आगम कम बोले प्रतिधन्य तो ये क्या चीज है बाबा बोले ये ये है देखो इधर ये प्रतिधन्य तो की प्रतिधन्य तो की क्या अर्थ है अनुभूति ये सुखदेव जी महाराज की अनुभूति है ये व्यास की अनुभूति है ये मानव की अनुभूति है क्या ईश्वर भी अतृप्त होता है क्योंकि प्रेम अनंत है प्रेम की प्यास अनंत है प्रेम में यदि श्री स्कंद पुराने एवा खंडे वो नहीं आता कभी और सत्यनारायण कथा की तो इति श्री स्कंद पुराने है ना इसी है और मिति है और प्रेम नारायण की जो कथा है उसमें न इति है न मिति है प्रशिक्षण वर्धमान तो दस दस अब बहुत हो गया प्रेम में अगर किसी ने कह दिया दस दस अब बहुत हो गया भाई तो नारायण करो अरे प्रेम करते करते हार गए आखिर कितना करा है ना नारायण अरे तुमको तो कहे तो प्रेम की गली में आना था क्योंकि प्रेम की गली में आने ही नहीं था जब की स्त्री कर देनी थी तो बस बस बहुत हो गया दृढ़ रहितम कामना रहितम प्रतिक्षण वर्धमान सूक्ष्म अनुभव विज्ञान प्रेम कैसा बोले ये गुण देख के नहीं होता नहीं तो बोले कि भाई ये बड़े दयालु हैं इनसे प्रेम करो और एक दिन देखा वो कोई निष्ठुरता कर रहे थे छूट गया अरे कहीं दानी दिए क्या पूछना दानी देश से प्रेम किया और एक दिन देखा कि दानी नहीं संग्रह नहीं करना होगा तो दानी कैसे होगा ये तो आपको पहले ही समझ लेना चाहिए ना कि अगर वो इकट्ठा नहीं करेगा तो दान कहाँ से करेगा तो दो बात होगी आपने दानी देश से प्रेम किया लेकिन ये नहीं सोचा कि अगर ये संग्रह नहीं करता होगा तो दान कहाँ से करेगा तो एक दिन संग्रह करके देखा तो प्रेम छूट गया मीठा बोलते देखा तो प्रेम हो गया और एक दिन जरा निष्ठुर के में देखा प्रेम कट गया तो गुण देश के प्रेम न होता है न देश देश करके प्रेम छूटता है ये प्रेम बड़ी चीज है हो गुण हाँ। देश से निम्न स्तर पर दैहिक प्रेम आत्मिक वस्तु है और गुण दोष जो है ये दैविक वस्तु है ये गुण दोष में से प्रेम की बढ़ती और घटती नहीं होती दोषे अक्षयता गुणेन गुरुतावती प्रेम कस्य विक्रीगति प्रक्रिया जैसे वेदांत की प्रक्रिया पंचदशी है वैसे एक प्रेम की ही प्रक्रिया प्रक्रिया मान शैली ढंग प्रकार वो क्या है तो वो दोष देख करके हटता नहीं और गुण देख करके बढ़ता है जैसे क्षयता है गुण है ना गुरु का कभी कभी तो देश देश से बढ़ता है और गुण देश से घटता है ऐसा भी प्रयोग होता है तो क्यों कोई आदमी को हमारी क्या जरूरत है बड़े गुण ऐसा वो प्रयोग है अरे तो दोषी है यहाँ भी तो हमारी जरूरत है संभालो इसको संभालो तो दोष और गुण में से प्रेम नहीं निकलता है ये तो प्रेम की कथा को जरा ज्यादा गंभीर है वो दोष और गुण में से प्रेम उत्पन्न नहीं होता प्रेम में से गुण उत्पन्न होता है गुण में से प्रेम नहीं उत्पन्न होता प्रेम में से गुण उत्पन्न होता है जैसे जैसे ब्रह्म निर्गुण है तो उसमें गुण कहाँ से आएगा इसका गुण कैसे होगा तो जब तुम्हारे हृदय में प्रेम होगा तो निर्गुण को सगुण बना लेगा निर्गुण ब्रह्म में जो उत्पन्न किया किसने बोले प्रेम ने वसंत ही प्रेम निगुणान भारवी ने कहा कि गुणों का निवास प्रेम में है जिससे प्रेम होगा उसमें गुण ही गुण दिखेंगे और जिससे द्वेष होगा उसमें दोष ही दोष दिखेंगे दोष से द्वेष की उत्पत्ति नहीं होती द्वेष से दोष की उत्पत्ति होती है गुण से प्रेम की उत्पत्ति नहीं होती प्रेम से गुण की उत्पत्ति होती है तो ये निर्गुण ब्रह्ममयी सृष्टि में राग के कारण गुण मालूम पड़ता है और द्वेष के कारण दोष मालूम पड़ता है और वस्तुतः न कहीं गुण है न कहीं दोष है यदि तुम्हें गुण देखना हो तो हृदय को प्रेम से भर लो वही गुण दिखेगा नारायण गोविंद नारायण अभिसूदन दोषेण क्षयिता गुणेन दुरितां प्रेम स्वारसिकस्य प्रेम स्वाभाविक उसमें निमित्त नहीं है नैमित्तिक नहीं है वो पूर्णिमा का दान नहीं है आज ग्रह है ग्रह बोले तो भाई आज शनिवार है कहा है तो सही तो बोले आज छाता है छाते का दान करो तो क्या तो उसमें लोहा भी है और काला कपड़ा भी है तो शंकर भी प्रसन्न हो जाएगा और जिसको देंगे ब्राह्मण को है ना वो भी प्रसन्न हो जाएगा हाँ, शनिवार को काम करने वाले जो होते हैं ना ये नैमित्तिक दान करते हैं नैमित्तिक है शंकर को भी शांत करते हैं जिसको देते हैं तो बाबा जी को तो खुश हो जाएगा तो उसको खाता देते के आए और शंकर खुश हो जाएगा कि शंकर के दिन लोहा दिया और काला दिया ये नैमित्तिक हो गया ये प्रेम नहीं है ये नैमित्तिक दान है प्रेम जो होता है वो गुण के निमित्त से नहीं होता वो दिल जो है ना और फिर छलकता है प्रेम ज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं होता प्रेम ईश्वर का प्राप्त करने के लिए नहीं होता प्रेम सब कुछ लेने के लिए होता है और सब कुछ देने के लिए होता है लेना देना दोनों एक कर देने के लिए होता है लेने वाले और देने वाले दोनों को एक कर देता है प्रेम सहज स्थिति है किसी बनावटी समाज की स्थिति का नाम प्रेम नहीं है नारायण कहो तस्मी तनी क्षति मुखम मुस्कान जो है जगत भाती हो भगवान की मुस्कान श्री कृष्ण ने कहा कि भैया तुमको तो मैं प्यारा लगता हूँ कि ये सब दूध दही मक्खन ये सब प्यारा लगता है भैया ने कहा कि तो बेटा कहा तुम और कहा ये सब ये सब तो तुम्हारे लिए है ना ये सब तुम्हारे लिए है बेटा भला तुम्हारी बराबरी करने वाली दुनिया में कोई चीज है तो भैया हमको तो ये सब अच्छा नहीं लगता हमको तो तेरा धीरे तो अच्छा लगता अगर अतिरिक्तम मैया का आनंद प्रेम दूध बन बन के बह रहा है और श्री कृष्ण का अनंत प्रेम प्यासा बन करके उसको पीता जा रहा है प्रेम ने दो रूप धारण किया एक प्यास का और एक रस का ये रस भी प्रेम है और प्यास भी प्रेम है ये, ये ब्रह्म जो है ना वो रस है प्यास नहीं है ना और प्रेम का रस भी है और प्यास भी है अविद्या की निवृत्ति होने के अनंतर रस ही रस है प्यास नहीं है सोचने चाहिए मोक्ष होनी चाहिए और यहाँ प्याला घरे में खाली हो खाली रस की रीति निराली प्याली घरे में खाली हो प्रेम की रीति निराली है तृप्ति भी नहीं होगी तृप्ति भी बनी रहती है और प्यास भी बनती जाती है जन्म अवधि हम रूप निहारे नैन ना प्रकृत भय आंखें तृप्त नहीं हुई और जन्म भर रूप देखते रहे और भाई तृप्ति नहीं होती है तो छोड़ दो छोड़ कैसे गए ऐसा रस तो कहीं और है नहीं ऐसा रस मिल गया तो क्या तो छोड़ो तो छूट नहीं और ये प्रीति की रीति है प्रीति में तृप्ति के साथ क्या है ना तृप्ति में योग के साथ प्रेम प्रीति में योग के साथ योग है और योग के साथ योग है यहाँ तृप्ति के साथ प्यास है और प्यास के साथ तृप्ति है यहाँ शांति में श्रृंगार है और श्रृंगार में शांति है ये बहुत अद्भुत वस्तु प्रीति जो है ये दिव्य है दिव्य अब देखो ईश्वर के लिए अतृष्टम शब्द आया अतृष्टम न वेद में न पुराण में न उपनिषद में बोला ईश्वर कैसा यहाँ ईश्वर कैसा बोले अतिरिक्तम जसोदा भैया का दूध पीते पीते तृप्त कहीं नहीं होगा नारायण बाबू की कथा आज कहने लायक नहीं है पहले ही कहने लायक है आज कहने से थोड़ा मजा आ गया